लायक तो है नहीं वो घड़ा पानी भर के रखने लायक है घड़े में पानी को धारण करते हो कमंडल से पानी को ले आते हो और जो है मठ में सोते हो अलग अलग कार्य देख रहे हैं आप इसी प्रकार से समाख्या शयन आदि आदि में अलग होना चाहिए अलग पद है समाख्याश्च अलग पद है वो एक कर दिया इन्होंने घटाकाश कलकाकाश इत्याद्या इत्यादि नाम भी अपने अलग दे दिया तत्कृता भिन्ना दृश्यंत तादश रूप कृत भेद कार्यकृत भेद कहीं संज्ञाकृत भेद को देख रहे हो और सगल इन भेद को लेकर के कल्पित नाम रूप कार्य तक भेद को लेकर के सकल व्यवहार भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तत्व व्यवहार विषय करता तत्व विषय में वे सब घटे न जलम आहारा करके चला जलम धारा मठे शेष इतना मारिया व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो बाहर नहीं सोना आज बादल लग रहा है रात्रि में नींद करा हो जाएगी तुम्हारी मठ के भीतर सो जाओ क्यों कहते हो मैं बाहर भी आकाश है मठ के भीतर भी आकाश है नहीं वो अपोर अपोर का आकाश अभी कार्य में विशेषता ये है वो तो आपको बारिश से ढीने नहीं देगा मठ आकाश और भाई आकाश बारिश भिगा देगा मतलब कार्यक्रम पे दौड़ा नहीं हो गया इस सकल व्यवहार तत्त व्यवहार विषय आप अनुभव करेंगे सर्वोयम आकाश रूपा न परमार्थ ये जो कुछ व्यवहार हो रहा है सर्वव्यवहार है रूपाधि भेद कृत आकाश है रूपाधि कल्पित भेद कृत ही है पारमार्थिक आकाश में कोई व्यवहार नहीं न भेद है न व्यवहार है परमार्थ आकाश से न भेदो अस्ती परमार्थ पर विचार करके देखे आप आकाश के अंदर कोई भेद नहीं है न आकाश भेद निमित्त व्यवहार अत्यंत परोपारी कृतम द्वारम ये वाक्य बड़ा विचित्र लिख दिया भाष्यकार ने उसके अन्वय ऐसे करो परोपारी कृतम द्वारम मंत्रेण मुल्लों में इसे पाठ करनी पड़ेगी परोपारी कृतम द्वारम मंत्रेण वहां से ले आओ उस कोने से मुसलमान लोग यहाँ पीछे से पाठ करते हैं लाइन के अंत से वैसे हमें करना पड़ रहा है यहाँ कि सीधे सीधे वाक्य हमेशा रखते थे और यहाँ के या उल्टा रख दिए कृत द्वार के बिना ठीक है आकाश भेद निमित्तो हो न अस्थि बीच बैठा है कृत निमित्त के बिना आकाश भेद निमित्त आदि जो व्यवहार है वह व्यवहार कभी नहीं हो सकता मैंने परोपारी कृत ही भेद है और भेद निमित्त ही व्यवहार है जैसा ही तक जिस प्रकार से आपने दृष्टान आकाश में समझे हो तब देवा देहोपाद भेद कृदेश जीवेश देहारी उपाधि कृत भेद को लेकर के जीव का निर्माण हुआ जैसे आपने वहां पर क्या किया था रूप आदि भेद कृत घटाकाश आदि संज्ञा हो गई और संज्ञान के हिसाब से कार्य में व्यवहार भेद कर दिया आपने उसे शरीर आदि उपाधि को लेकर के नाम अपने इसका नाम है दत्त है वो देवदत्त है सोम दत्त है या संजय है विजय है सब नाम रख दिया और फिर उसके आधार पर व्यवहार कर दिया ये इतना पढ़ा लिखा ये पढ़ा लिखा नहीं है ये अमुक पास हो गए फेल हो गया सब व्यवहार कर देते हैं इसलिए अविद्या आदि देहादि उपाधि कृत भेद कृतेश जीवेश घटाकाश स्थानीय घटाकाश आदि नाम के योग्य ही है नहीं होता है आत्मसूतार्श कल्पित भेद वाला एक आत्मा हो गई अनंत आत्मा कल्पना कर लिया जैसे अनंत आकाश कल्पना करते हो घटाकाश मटाकाश इत्यादि उसे अनंत अपने जीवों की यहाँ कल्पना कर लिया है निरपणार कृतो बुद्धि मध्य फिर निर्णय निश्चय हाँ, ऐसा है निरूपण करते हुए विद्वान लोगों का यह निर्णय निश्चय ऐसा समझा तद जीवेशु निर्णय जीव के विषय में निर्णय किसने किया बुद्धिमत भी मन विद्वल ही निर्णय करता निश्चय करता है ऐसा उन्होंने देख लिया कि अविद्या से जन्य देहादि उपाधि कृत अनेक संज्ञाएं हुई और उन संज्ञाओं से विशेष शरीर आदि उपाधियों को लेकर के अनेक प्रकार का व्यवहार करते हो वो वास्तविक नहीं है इस प्रकार से वो निर्णय कर लेते हैं पूर्व पक्षी कहते हैं नो परमार्थ कृत घटाकाश रूप कार्य आदि व्यवहार कहते आप पर पारमार्थिक वास्तविक ही है घटाकाश वास्तविक पैदा हो गया है क्योंकि कारण से बिन तो कार्य को वास्तविक मानते नहीं आएंगे घटाकाश घट पैदा हुआ तो सत्य है या नहीं क्योंकि नैयायकों के हिसाब से मृत्यु का से भिन्न घटोत्पत्ति सत्य है अतः अच्छा, घटाकाश भी सत्य उसके लिए सत्य से जनित होगा सत्य ही तो होगा असत कहा जाया जाएगा सत्य बता घट से जनित घटाकाश है वो भी सत्य रूप ही है इसलिए परमार्थ घटाकाश आदिशो रूप का है नहीं तो दस्ते तो एक संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है तदव परमार्थ आकाश घटाकाश हो न विकार क्योंकि असली बात यह है कार्य उस कारण का विकार ही नहीं है आकाश से घटाकाश विकारा वयभ यथा नैवात्मना सदा जीव विकारा तथा और आकाश का अवयव भी घटाकाश नहीं है यथा आकाश से विकार अवयव घटाकाशो न भवती तथा जीव सी प्रकार से आत्मन विकार अवय जीवो कदापि संभवित न रहती यदि सदा नहीं कभी नहीं हो सकता कि जो शुद्ध आत्मा का ये जो जीव है उस आत्मा का विकार हो वह उस आत्मा का अवय हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि घटाकाश में तो स्पष्ट ही है वो महाकाश का न विकार है न महाकाश का अवयव है क्योंकि जो भी विकार हो ये अवयव का होता है मूर्त पदार्थों में होता है इधर जान करके इन्होंने आकाश का दृष्टान्त लिया यहाँ अमूर्त का दृष्टान्त ले लिया अमूर्त दृष्टान्त से क्या है आत्मा भी अमूर्त है अनाया समझ में आ जाता है ये दृष्टान देंगे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा वैसे मंद बुद्धि वाला को घुसेगा क्या होगा कठिन हो जाएगी आकाश तो आसानी से समझ में आ जाता है तो ये स्मार्ट जिसलिए कि परमार्थ आकाश से परमार्थ आकाश है ना अनौपाधिक जो महाकाश वही परमार्थ आकाश है हाँ, परमार्थ आकाश है ना इसे घटाकाश को ऐसे है ना नाम सुन लिया परमार्थ तो परमार्थ आकाश का मतलब परमार्थ मटाओ का नहीं ऐसा नहीं यहाँ परमार्थ का तात्पर्य है वो जो निरुपाधिक शुद्ध था उस आकाश के प्रति ये जो घटाकाश का व्यवहार कर रहे हो भेद मानते हो वह न तो विकार है तथा सुवर्ण से रोजगारी ही जब यहाँ करके मूर्त दृष्टान दिया जैसा सुवर्ण का विकार रुचकारी है वैसे आकाश का विकार घटाकाश नहीं है यथा अपान भेद बुद्ध बुध बुध हिमाद ही जैसे जल में देख लो जल का विकार क्या है बुध बुध है फेर है हिम है इतने विकार होते वैसे आकाश का विकार है नहीं मूर्तों में दृष्टान देना पड़ेगा विकार का हम मूर्त वेद के विकार होता ही नहीं इसलिए वेदिकरण आप दृष्टान दे सकते हैं वही है ना तो इसलिए कहते हैं आप वेदिकरण दृष्टान लीजिए आकाश का महाकाश का कार्य घटाकाश नहीं हो सकता अविकारित्वाद निरवयत्वात् इसको हेतु देना पड़ेगा है कि नहीं ये निरंतर में था रोचकादि जो ऐसा निरवय नहीं है अर्थात सावय है वो विकारी होता है वह अविकारी भी नहीं होता अर्थ विकारी होता है जैसे कि जल में फिर बुद्ध विकार को देखते हो या स्वर्ण दी विकार को देख रहे हो ना प्यवय यथा वृक्ष सुशाकादि आकाश का अवय घटाकाश ये भी नहीं कर सकते हो जैसे वृक्ष के जो है शाखा भी क्या है और क्या पृथ्वी को ले आए तो तीनों को ले ना पृथ्वी जल तेज न तथा आकाश घटाकाश विकार अवय था इधर जिस प्रकार आपने देखा कि आकाश का ये जो घटाकाश है वह न विकार अवय है तथा नहीं वात्म परस्य परमार्थ सदा उसी प्रकार से वो जो आत्मा क्या है पर निर्विषय है निरवय निर्गुण निराकार विशुद्ध है तो परमार्थ स्वतः परमार्थ सदरूप है महाकाश स्थानीय महाकाश के समान है वो उस आत्मा का घटाकाश स्थानीय जीवा घटाकाश रूपी कार्य रूपी आप जो अनुभव कर रहे हो वह जीव सदा मैंने सर्वदा यथो दृष्टान्त हो तो न विकारो न दृष्टान के अनुसार अनुसार वह न तो उसका विकार हो सकता है शुद्धात्मा का अतः आत्मेर करता व्यवहार हो व्यवहार जो कल्पना करते हो वो व्यर्थ ही है कभी फिर कैसे व्यवहार हो रहा है समझाओ थोड़ा तो इसमें कौन सी बड़ी बात आरोपित वस्तु के लिए व्यवहार हो जाए यथा भगवती बालाराम गगनम मलिनम मलई तथा बुद्धाराम आत्मा मलिनो मलई कहते प्रकार से बालों को कैसा होता है मल के द्वारा ये गगन भी मलिन करके अनुभव में आ जाता है ठीक उसी प्रकार से अबुद्धाराम जो अज्ञानी है अविद्वार अभिवेकी है उसको क्या होता है ये आपका भी स्वपरिकल्पित बाई जो है मलों के द्वारा है मलिन जिस अनुभव में आ जाता है और उसी मलिनता को लेकर आपका में बंधन का आरोप करता है और उस मल को हट जाए और आत्मा को कदम मुक्त हुआ स्वगर्भ आरोप को लेकर के सव्यवहार है यह समाज में था घटाकाश आदि भेद बुद्धि निबंधन रूप कार्य द्वारा घटाकाश आदि भेद बुद्धि ही कारण है रूप कार्य भेद व्यवहार की प्रति जो रूप भेद व्यवहार तत्व महत्व आदि या कार्य भेद विभाग के आनयन आदि और जो है कार्य आदि से क्या था संज्ञा भेद ये सब क्या है आपकी बुद्धि कर सब कुछ नहीं आपकी बुद्धि में है किसी चीज को लोग वेदांति लोग बोल देते हैं अब आदमी योग्य है या नहीं देखते नहीं है भला देखो आप लाए फूल चढ़ा दे उसी फूल को उठाएगा देखो सब पंगुड़ी फेंक दिया कहा है फूल बताओ तो कहा है फूल तुम्हारी खोपड़ी में विचार भरा था कि मैंने फूल चढ़ाया ये भी विचार है और अब तुमने जो देखा विनाश ये भी एक विचार है पात्र न फूल है न तुम लाया है न तुम दिया है न नष्ट हुआ ये सब विचार मात्र बुद्धि का खेल मात्र ही है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं साधना कर दो बेकार है भजन कर दो बेकार है बेवकूफ है तुम कुछ नहीं करना सब बुद्धि का खेल है बुद्धि का विचार है ये मैं साधना कर रहा हूँ ये भी एक विचार है बात तो सच्चा ही है भारत का दृष्टि से तो बिल्कुल सच बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहे वास्तव तो कुछ भी नहीं जगत भी पैदा नहीं हुआ कहा साधन कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो सब बकवास है तुम्हारी अपनी कल्पना है ये सब बात तो यथार्थ कह रहा है लेकिन गलत जगह बोल रहा है इसी को चिन्मा ने जीवन देते a right thing at a wrong place आप बोल रहे हो करेक्ट बिल्कुल कोई संशय नहीं किसके सामने बोल रहे हो महामूर्खों के सामने बोल रहे हो मुमुक्षु के सामने बोलते तो मान लेता ये सब गृहस्थी है ये मूर्ख है ये ब्रह्मचारी है ये भी योग्य नहीं है इन लोगों को बोलो तुम संध्या करो पूजा करो साधना करो भजन करो यही तुम्हारे लिए ठीक है इनको ये कहो जगत पैदा हुआ ईश्वर है खतरा है वो वो तो दंड देगा नहीं करोगे तुमको पाप लगेगा यही बोलना चाहिए और वहां जन कुछ भी नहीं है सब विचार है कल्पना है सत्यनाश कर दिया सब नगर के न के छोड़ दिया उसे और पछता है नहीं उनको बात कितने ब्रह्मचारी हमको देखा ये सब बातें सुन सुन करके आ जाते हैं और उधर न घर के न घाट के होते रहते हैं अंदर बंद चलते रहते हैं इतना द्वंद चलता है क्या करो वो जो बोल तो है बात लगता है सही है उपनिषद ऐसा कहता है अनुभव में तो तक आया नहीं जगत का मिथ्या है जगत तो सत्य है बिना रुपये का तो काम चलता नहीं हमारे तरह लाख रुपया है मैं इसको तो क्या करूँ मेरे दिमाग में वो आ रहा है और दिमाग में न विवेक न वैराग्य उसको घुसे दिए सीधा विचार है विचार है सब मिथ्या है कुछ नहीं साधन करने की जरूरत नहीं भजन करने की जरूरत नहीं अब बेचारा क्या आ जाए अब उसको अपने अपने जो साधन कर में रहते बेचारे घर में रहते हुए उसने भी अपने अनास्था पैदा कर दिया अश्रद्धा पैदा कर दिया साधना अब वो साधना भी छोड़ा अगर अनुभूति तो हुई नहीं जाएगा वो योग भ्रष्ट हो जाएगा फिर चक्कर काटते रहेगा फिर कभी ना कभी वो वास्तव में नास्तिक ही हो जाएगा तब नर्क भी चला जाएगा और गुड़ भी जाएगा ना वो <laughs> गुरु चला नर्क ठेलम ठेला दोनों जाएंगे फिर तो इसलिए बड़ा सावधानी से वर्तना पड़ता है अपने से देखना पड़ता है कौन मुख्य है अमुमुक्ष है कौन किस स्तर वाला है उसी हिसाब से उसको उपदेश देना चाहिए और पब्लिक में जो वेदांत कहोगे तो कैसे चलेगा कल भी रात एक ने दिमाग एक घंटा खाया इसी बात अब कह दिया उसको गुरु महाराज ने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो मन में बात खत्म है इसमें मन का खेल चल रहा है माहौल चल रहा है न साधना करने की जरूरत है न भोजन करने की जरूरत है न जब करने की जरूरत है अरे तत्व क्या होता है कुछ नहीं सब छोटा है अब उसके दिमाग में भर दिए हैं अब लेकिन उसको पछता नहीं इसीलिए कि अनेक वासनाएं भरी पड़ी वासनाएं उठते हैं और मैं ये करूँ मैं वो करूँ फिर डरता है ये सब बेकार है क्यों करूँ न कर पा रहा है नहीं उससे कोई तो स्थिति बन पा रही है बड़ा दुविधा में पड़ा हुआ है अनेक स्थान देखे समझाने के बाद भी वो बात फिर वही घूम के आती है उन्होंने ऐसे क्यों कह दिया था समस्या है ना अब तो बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला उसको दे दिया पीएचडी का कोर्स एकदम जो है और वो बेचर कहा जाए दिमाग फेल हो जाएगा उसको मैंने कहा देखो याद हो तो पागल हो जाओगे यदि ऐसे ही चक्कर पड़े रहोगे या तो तुम पागल हो जाओगे या तो तुम छोड़ो सब जाओ शादी करो मैंने भूख दिमाग ठंडा हो जाएगा सब सही हो जाएगा कल सही हो जाएगी शादी करो और कोई रास्ता नहीं तुम्हारा दिमाग ठीक होने का इस समय कि तुम्हारे भोग्य वासना जगी है छात हो रहा है अगर धन में फंस गया तो इधर उधर शादी करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा करने की इच्छा भी है जब वेदांत उसको खटपट कर रहा है शादी करने नहीं दे रहा है अगर वासना कहते तो शादी करो व्यापार करो धंधा करो और बेचारा इधर से उधर जो है टका पर होता है टका पर वैसे फंसा है यही होता है मांडिक पढ़ने में ही बड़ा कठिनाई है इसने तो कह दिया जाए संसार है नहीं पैदा नहीं हो कुछ सब कल्पना है लेकिन इसकी अनुभूति के लिए यज्ञ में दान तपसानाश के लिए जो कहा उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना उसको नहीं करोगे तो कैसे इसका अनुभूति करोगे ठीक है लक्ष्य के बारे में आपको ज्ञान हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ के बैठ जाए ये इसका तात्पर्य नहीं है इसे यहाँ पर ध्यान और बात को रखते हुए समझना है देहो पारी जीव रहे जन्म मरणा देव आ रहा पूछता पूर्व पक्षी बहुत ही अद्भुताओं का कहते थे यस्मार यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधन रूप कार्य आदि भेद व्यवहार घटाकाशादि भेद बुद्धि आपके दिमाग में है भेद बुद्धि तन निबंधन कही तत्कारण कही रूप भेद कार्य भेद संज्ञा भेद व्यवहार हो रहा है आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया ये घट है ये बन गया है तो तुरंत दिमाग में ग्रहण घटाकाश नाम ले लिया उसने ये आपके मस्तिष्क में चीज न हो न संजा रहेगी न रूप है न काल घी ने वैसे पकड़ लिया तो वैसे व्यवहार हो रहा है बुद्धि जिस चीज को जैसा पकड़े वैसे उसके साथ व्यवहार होगा पहले दृष्टान दिया था ना कि दोनों भाई बहन जैसे रहते रहे फिर हमारे पता चल गया वो मेरी पत्नी होने वाली है उसे पता मेरा पति होने वाला है सारा व्यवहार कर बुद्धि का खेल तो सब है क्या बुद्धि अब तक ये मान रहा था कि ये भैया है और वो गैर का बहन है अब बाद में बुद्धि पकड़ ले पति है वो वो पकड़ लिया पत्नी बुद्धि तक का खेल और है क्या शरीर तो वही है दोनों आदमी भी वही है बुद्धि में वृत्ति बनी पतित्वाकार वृत्ति आकार वृत्ति बने बाकी सब बदल गया उसी तो प्रकार यहाँ भी कहते घटाकाश ऐसा ही वृत्तिया दिमाग में बन गया उसी वृत्ति के वजह से सकल भेदभाव हो जा रहा और विषय विषयाकार वृत्ति का समाप्त कर दो कर दो बना दो तो बनाने की जरूरत है यार विषयाकार को नहीं यदि कर दो अपना हो जाता है बनाया हुआ चीज टिकेगा नहीं जो बनाया हुआ होता है तो टिकता नहीं जो बनवाया गया है वो भी टिकेगा नहीं और जो बनता है वो भी टिकता नहीं जो स्वतः होता है वही टिकता है सबको बना लिया जा दूसरे दृष्टान देना शेर को राजा किसे बनाया अपना हो गया उसे कोई काट नहीं सकता और बनते हो वो खतरा है आप साधु बनते हो तो भी खतरा है इतना आप साधु बन नहीं सकते आपका साधु बनाया गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा बनाया है तो गड़बड़ है बनते हो तो गड़बड़ है बनने की चेष्टा करोगे तो और खराब हो जाएगा क्योंकि जो कुछ भी बनाया हुआ है वो क्रिया से जन्य है जो क्रिया से जन्य वो अनित्य होगा तो कभी नित्य हो नहीं सकता वे न बनो न बनने की चेष्टा करो न किसी बने पर बन करना छोड़ो मत तभी जा करके सफल होता है इसी को यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं बुद्धि निबंधन हो सब आपके अपनी वृत्ति ही मुख्य कारण बन गया है वास्तव में रूप कार्य व्यवहार के प्रति आपका अंदर विद्यमान घटाघाशादी भेद बुद्धि ही कारण है यथा तथा तो जो भेद को लेकर के ही जन्म मरणा जो व्यवहार कर रहे हो तस्मात तद एवं क्लेश कर फलम फलम अलवत्तम आत्मनो न परमात्मा इसलिए बुद्धि कृत ही है क्लेश कर्म फल मलवत्व आत्मा के अंदर परमात्मा तो कुछ भी नहीं है ये दृष्टान्त प्रतिपादिशन आह इस अर्थ को प्रतिपादन करने की इच्छा से दृष्टान के द्वारा समझा रहे हैं यथा भगवती बालानाम गगनम मलिनम मलई यथा भगवती के इस लोक में आप देखते हो बालानाम अविवेकी नाम गगनम मन आकाशम घन रज होमादि मलई मलिनम मलवत न गगनम मलवत वास्तव में गगन मल वाला नहीं है लेकिन अविवेकियों ने घन रज धूम दर्शन के द्वारा मल दर्शन से उस आकाश को मलिन मान लिए हैं याथात्व विवेकी नाम याथात्व का विवेचन करने वालों के दृष्टिकोण से आकाश मलिन वाला नहीं है मल वाला नहीं है तथा भवती आत्मा ठीक उसी प्रकार से आत्मा है परोपी यो विज्ञाता क्लेश कर फल मलई ही मलिनो अबुद्धान यदि वो कहता है तो वो तो विज्ञाता है क्या है विशुद्ध है इसमें कोई संशय नहीं है मैंने अज्ञान कार्य से असंस्पृष्ट है पर का मतलब क्या अज्ञान कार्य से अत्यंत असंबद्ध है वो फिर भी अबुद्धाना प्रत्येगात्म विवेक रहित आना अबुद्ध जो है अर्थात प्रत्येगात्मक विवेक से रहित जो लोग है वो लोग क्या मानते हैं प्रत्येक क्लेश प्रत्येक कर्म प्रत्येक फल प्रत्येक मल के द्वारा उस पर भूता विज्ञात भूतात्मा को मलिना इति मनंद न आत्मेकदाम आत्मेक वाले पुरुष कभी उस आत्मा को क्लेश कर्म फल मल वाला है ऐसा नहीं मानते नहीं वो शरीर जो प्राणी अध्यारोपित हो फेन तरंगायमास तथा ठीक उसी प्रकार जैसे प्यासा उस प्राणी के द्वारा आरोपित उदक फेन तरंग आदि वाला वा ऊषर भूमि वास्तव में नहीं होता तथा न आत्मा अबुदारोपित क्लेश आदि मलिर मलिन भवती अबुद के द्वारा आरोपित क्लेश आदि मल के द्वारा मलिन नहीं होता तो पूर्व पक्ष आशंका करता है आपका अद्वैत सिद्धांत ठीक इसे नहीं बनता है क्योंकि ये सुनने को मिलता है कि जीव मरण के अंतर पुण्य प्रदान है तो स्वर्ग चला जाता है ताप प्रदान है तो नरक चला जाता है उदय सम्मा समान करीब हो लगभग मिश्र हो उस अवस्था में जो है वो पुनः यही किसी न किसी योनि विशेष में चला जाएगा यावत भोग तत्त योनियों में स्थित होकर के पुनः वापस लौट के आता है फिर जाता है ऐसा आवागमन वाला ये है ऐसे सुनने को मिलता है और समस्त कर्मकांड परक और उपासना कांड परक जो वेद भाग में भी यही है गमनागमन न हो तो फिर वेद ही बेकार हो जाता है हिस्सा जो आ रहा जरा है नहीं कोई दूसरा है नहीं कहा जाएगा कौन आ रहा है कहा जा रहा है क्या होगा कुछ नहीं तो निरतक कर फिर कर्मकांड इसलिए अद्वैत जो आपका वेद विरुद्ध है कि तो ये कर्म और उपासना पांडवों के अनुसार जीव गमनागमन वाला है और जो गमनागमन जहाँ है वो तो द्वैत में ही हो सकता द्वैत हो नहीं सकता अगर आपका द्वैत सिद्धांत वेद विरुद्ध है ऐसे शंका है तो सिद्धांत जवाब में कहता है मरणे संभवे चैव गत्यागमन सर्व शरीरेशो आकाशे न विलक्षण घटाकाश क्या आता है जाता है व्यवहार होता है आप जो घटाकाश को यहाँ से वहाँ ले गए वहाँ से यहाँ ले आए घटाकाश उत्पन्न हुआ घटाकाश मर जाएगा घटाकाश की स्थिति है सब व्यवहार हो रहा है उत्पत्ति स्थिति मरण गमन आगा आगमन सब व्यवहार होता है घटाकाश में व्यवहार होने पर भी क्या आकाश व्यवहार हो रहा है आकाश के अद्वैत स्वरूप को मर्दन के बिना ही घटाकाश के अंदर सब व्यवहार हो जाता है यथा तथा आत्मस्वरूप के अपना द्वैत स्वरूप का विनाश किए बिना ही यह उपाधि की गमना गमन उपस्थिति और लय आदि व्यवहार हो सकता है इसलिए कहते मरण विनाश है संभव मैं उत्पत्ता हो गति मन गमनम आगमन अपनी स्थित उत्पत्ति स्थिति लय और गमनागमन ये सारी चीजें सर्व शरीर सभी शरीरों में जन्म हो रहा है उसी प्रकार का है जैसे घटाकाश में होता है और आकाश से कोई आकाश में घटाकाश है ना विलक्षण घटाकाश से इसमें कोई विलक्षणता नहीं है मान जिस प्रकार से घटाकाश में उत्पत्ति स्थिति उसका लय गमन आगमन सर्व हो रहा है उसी प्रकार से शरीरों का होकर के इस आत्मा में भी व्यवहार करना हमें कोई आपत्ति नहीं है उतने मात्र से आत्मा का जो अद्वैत स्वरूप है उसमें कोई हानि नहीं होता ऐसा घटाकाश में व्यवहार होने के बावजूद भी शुद्ध आकाश में जो निरुपाधिक आकाश के अंदर कोई अद्वैत भाव का हानि नहीं होता पुनरअि उत्तम वर्तम प्रपंच भाषकार कहते हैं पदार्थ को ही दूसरे शब्दों में स्पष्ट और उसे कथन किया जा रहा है घटाकाश जन्म नाश गमना गमन स्थिति घटाकाश का जन्म होगा घटाकाश की स्थिति है घटाकाश का गमन और आगमन स्थिति काल में और तदुत्तर काल में भी नाशोत्तर काल में भी ये सारी चीजें जो है ना उसी प्रकार का है ठीक सर्वेश्वरेश्वर आत्मा जन्म मरणादिराकाश न विलक्षण प्रतीत इसलिए जो सर्व शरीरों में विद्यमान इस आत्मा का जो आप जन्म मरण आदि जो व्यवहार करते हो वह घटाकाश के साथ अविलक्षण नहीं समझो आकाशीय जन्म आदि के समान ही है तब वो कहता है संघात शब्दित उपाधियों का सत्यत्व और तत्प्रयुक्त भेद के सत्यत्व को मानना पड़ेगा आपने उपाधि को मान लिया ना कहने का यहाँ पर आपके बात से ज्ञापन हो रहा है आपने उपाधियों का अस्तित्व मान लिया तभी उपाधियों से निरूपित गौन उत्पस्थिति लय वगैरह स्वीकार कर रहे हो आप आत्मा में भले मिथ्या व्यवहार से क्या लेन देन लेन उपाधि तो है और उपाधि यदि है तो उपाधि निरूपित भेद को भी मानना पड़ेगा वो भी है यदि वो सत्य है फिर अद्वैता नहीं होगा ये कहता है संघात आदि शब्दों से कहा हुआ जो भी बात उपाधियां हैं वो ये सत्य है तब तो भेद भी सत्य होगा तब तो अद्वैत की अनुपत्ति होगी संघाता स्वप्रगत सर्वे आत्माया विसर्जिता आधिक्य सर्वसामीवा लोकपत्ति ही विद्यते सभी जो देहादि संघात जितने भी है स्वप्न में दिखने वाले देहादि के समान ही है जैसे आप अपने में ही स्वप्न को देखते हो उसी प्रकार इस जागृत आदि संसार जो देखते हैं ये भी उस आता में ही देखा जा रहा है स्वप्न सर्वे संघाता स्वप्रगत संघात के समान ही ये जो जागृत कारण संघाता मानते ये भी उसी प्रकार की है क्यों आत्माया विसर्जिता आत्मा श्रद्धा और आत्म नहीं या माया आत्मा में आश्रित नहीं रह करके काम कर रही है और आत्मा को विषय भी कर लेती ये विचित्रता है आवरण करते हुए आत्मा का विद्या विषय बना लेती है और अपनी ठिकाना कहा है उसकी उसी आत्मा में जिस घर में रह रही है उसी घर को बर्बाद करने वाली है कहने का ये मतलब हुआ उसी आत्मा में रह रही है उस आत्मा को ढक करके जो उसको ही भ्रांति पैदा कर दे वही भ्रांति दिखा देगी आजकल की मॉडर्न बहुओं के समान जिस घर में पैर की उसी घर को खत्म कर देगी अविद्या ऐसी माया ऐसी खेल है आत्म माया विसर्जिता क्योंकि आत्मनिष्ठा या माया और आत्मशीनी या माया तारस माया से सब निष्पन्न होने से रचे हुए हैं और आप कुछ आधिक्यता की अपेक्षा कर रहे हो कर गए ऐसे कैसे होगा अरे मैं वहां तो देखो ब्रह्मा जी बड़े संपन्न है तो हम दो तो कुछ नहीं और नीचे देखते हैं नहीं वो पशु आदि हमसे भी घटी हालत में विवेक नहीं हो पढ़ नहीं सकते समझ नहीं सकते बोल नहीं सकते है आप जितने भी चरित्र से भले आजकल के मनुष्य गिर गया है लेकिन फिर भी पशु से इस बात का श्रेष्ठ पढ़ लिख सकता है समझ सकता है है या नहीं सुख दुख में आपस में एक दूसरे को साथ भी दे सकता है सब कुछ कर सकता है कर भी रहा है इसलिए श्रेष्ठ तो है ही तो इसलिए अपने से निकृष्ट उनको मानेगा ये फिर क्यों हुआ न्यूनारी कथा कहा से घुस गया उत्कृष्ट अपकृष्ट क्यों हो गए कल्पना हमने ही किया है हमारी अविद्या से हमने ही कल्पना किया था वो सब बराबर कल्पना करता कह दे आज की सर्वसाम्य सभी की बराबरी समझो चाहे सभी की अधिकता समझो ऐसा वास्तव उत्पत्ति ही नहीं हो सकती इनकी नहीं उपपद्यते उपत्ति रे न विद्यते इनकी उपपत्ति हो नहीं सकती युक्ति से आप इन चीजों को सिद्ध ही नहीं कर सकते क्योंकि मिथ्यावत वस्तु उत्कृष्टता निकृष्टता क्या है कुछ भी नहीं है आपकी अपनी कल्पना है और कुछ नहीं ना आपकी कल्पना से आपने किसी चीज को उत्कृष्ट मान लिया किसी चीज को निकृष्ट मान लिया अलवरी वही बात चल रही थी आप हड्डी है शंख उसमें अपने उत्कृष्ट मान लो मान लो अब आदमी की हड्डी को नहीं ना कहते अपवित्र अशुद्ध है मान लिया अब क्या करे ये भी हड्डी वो भी हड्डी हम्म? या नहीं अब जो है मक्खी गिर जाए अरे खराब हो गया अरे वही मधुमक्खी ने अपने सारे झूठे से बना दिया अब लग रहा पवित्र से भगवान की अभिषेक करूंगा और उसको आचरण में उसको पंचामृत डाल करके पी भी जाते मानने वाली बात है उसके तो बाद ने सिद्ध किया ये भी जूठन ये भी जूठन ये भी हड्डी ये भी हड्डी नहीं आपके मानना है कि ये उत्कृष्ट है वो निकृष्ट है न ये वास्तव उत्कृष्ट है न वो निकृष्ट है न ये दोनों समान ये भी नहीं जा सकते क्योंकि भी कल्पना है हड्डित्व भी आपकी कल्पना है ये जूठा है ये भी कल्पना है इसलिए कहते हैं कि देखो इस मिथ्या तत्वों की उत्कृष्टता निकृष्टता या समानता आदि की उपपत्ति आप नहीं कर सकते वह मानने वाली बात है केवल घटाद स्थानीयास्तु देहाय संघाता स्वप्न दृश्य देहाधिवत माया विकृत देहाधिवच्च घटस्थानीय घटाधिस्थानीय भूता जो देहादि संघात क्या है घटादि जैसे है जैसे आकाश को परीक्षण करने के लिए उपाधि कौन था घट जरा आत्मा को परीक्षण करने उपाधि कौन है या देहादि संघात वह स्वप्न दृश्य देहादि के समान है स्वप्न में जो दृश्य होता देहादि है ठीक उसी के समान आप हम कृष्ण कृष्ण कल्पना कर लेते हो और स्वप्न में आपके गुरु जी आ जाए तो क्या करोगे आप स्वप्न में आगे गुरु जी आ गए तब प्रणाम नहीं करोगे कह रहे स्वप्न का वस्तु आप मिथ्या भी मिथ्या है अरे आप गुरु जी नहीं आप ना शिष्य है स्वप्न है ना ऐसा नहीं बोलोगे वहां भी आपके लिए गुरु गुरु ही है चेला चेला ही है कहीं प्रणाम होगा सरकारी होगा होंगे नहीं ये तो कह रहे मिथ्या वस्तु में जो उत्कृष्ट और निकृष्ट कल्पना करते हो ऐसा ही रहेगा जैसे आप ही है आप उसमें अंतर कुछ भी नहीं कर सकते और अगर तो उपपत्ति जैसे स्वप्न में वास्तव में है नहीं फिर भी उत्कृष्ट निकृष्ट व्यवहार हो रहा उसी और यहाँ पर वास्तव में न होने के बावजूद व्यवहार करते रहो इसी को युक्ति से उत्कृष्ट निकृष्टता में तो अब नहीं ला सकते एकादश भेद व्यवहार को देखते हुए आधिक्यता या साम्यता को देखते हुए किसी वस्तु में सत्यत्व की स्थापना नहीं कर सकते इसका तात्पर्य इसलिए कहते हैं क्यों और दूसरे संग है मायावी कृत देहादिवत मायावी ने हाथी बना दिया हाथी के रूप में चिंगारता है वो धारता है सब कुछ सुनाता है कि नहीं सब कई आवाज सुनाने वाले होते हैं एक आदमी तो ऐसा था एरोप्लेन चलने की आवाज सुना देता और युद्ध की आवाज को सुना देता था तो पता नहीं क्या गड़गड़ कर देता था अब आपको ऐसा लगता था कि युद्ध हो रहा है ऐसा आपको सुनाई देगा माइक से बोल रहा है और आपको सुनाई दे रहा है क्या एक कला थी उसकी पास सिंह गाड़ना तो पहले बोल रहे डरना नहीं बोलता था तो पहले ही डरना नहीं मैं आपको अभी सिंह का आवाज सुना रहा हूँ मुझे बच्चों जिनको डर लगता है पीछे चले जाओ पहले बोलते थे और सुना तो माया अधिकृत देह आदि के समान ये भी देह समझो आत्माया विसर्जिता आत्मनो या माया अविद्या सा आत्माया तया आत्माया प्रतिपस्थापिता न परमार्थ संति आत्मनिष्ठा या माया और आत्म विषया या माया तादृशी माया रूपी अविद्या के द्वारा उपस्थापित है अतः परमार्थ तो है ही नहीं यदि आधिक्यम अधिक भाव त्रिय अपने अंदर आप आधिक्यता मानते हो क्यों फिर अपेक्षा से मैं श्रेष्ठ हूँ देवादि कार्यक्रम संघात राम देवा सर्वेशम और अथवा अपने से देवादि कार्यक्रम संघात के अंदर आप कुछ अधिकता मानते हो श्रेष्ठता मानते हो ये विवाह सर्वेशम समत ही तो सभी को दृश्य समान समझ लो नहीं समुपत्ति संभव फिर भी इनकी सत्यत्व सत्य अस्तित्व की स्थापना नहीं कर सकते सद्भाव प्रतिपादक हेतु न सद्भाव के प्रतिपादक का कोई हेतु ही नहीं हो सकता इस कथा भूपति मैंने सद्भाव प्रतिपादक हेतु वो न संभव न विद्यते नास्ती ही अस्मत तस्माद अविद्या करता है जिसलिए है नहीं इसलिए फिर भी दिखाई दे रहे हैं तो इनको मानना पड़ेगा ये अविद्या कर रही है न परमार्थ तसंथी परमार्थती है नहीं ये निश्चय करना होगा कहते जीव से अद्वित ब्रह्म अवस्थम भेन उपवाहितम युक्ति से बाधित कर दिया जीव अद्वितीय ब्रह्म ही है और इसकी जो संघात सब कुछ कल्पना मात्र ही है जो उपपत्ति युक्ति से सिद्ध किया कहा था शुरू में जिस अद्वैत को पहले हमने आगम से सिद्ध कर दिया था जो प्रस्तुत आगम है मांडव की परिषद और दूसरे प्रवण में कहा द्वैत वैथत्य द्वारा साक्षात नहीं द्वैत वैथित्व को मैं उपपत्ति युक्तियों से सिद्ध किया और तो द्वारा अर्थता अद्वैत सिद्ध कर दिया था और अब हम क्या करने जा रहे साक्षात युक्तियों से उपत्तियों से अद्वैत को सिद्ध कर रहा हूँ हो आकर के यहाँ समाप्त हो गया अब युक्ति से सिद्ध और वर्तमान यद्योपरी कारिकाएं लिखी गई है तदुपरिषद से भी सिद्ध उस अद्वैत को अन्य उपनिषदों का समर्थन देते हैं यो ही ये कोशा तेषा माता परो जीव खंगथा संप्रकाशित यो ही ये कोशा अन्नमय कोश रस का से अन्नमय क्योंकि खाए रूपये का रस ही सार जो है शरीर में बन गया है इसलिए रस कह दिया जाता है अन्नमय कोश से लेकर के जितने भी कोश है तैतरीय व्याख्यात तैतरीय में जो व्याख्यात है तेषा महात्मा उन लोगों का जो आत्मा जिसको आप जीव कहते हैं स्वयं पर वही पर है खम्यत संप्रकाशित वही जो है परमात्मा है उनके अंतरतम जीव रूप से बतलाया गया है संप्रकाशित यथा खम जैसे कि आकाश तो जो महाकाश है वही घटाकाश के रूपेण और घट में उपाधि के द्वारा प्रकाशित हो रहा है ठीक उसी प्रकार से इन पंचकोश में उपाधियों के द्वारा वही परशुद्ध ब्रह्म जीव रूप में प्रकाशित हो ऐसे तैतृक परिषद ने पंचकोश प्रक्रिया के द्वारा समझाया गया अत जीव ही ब्रह्म ब्रह्म ही जीव प्रत्यार वर्जित द्वैस्या तत्व प्रमाण तत्व प्रदर्शनार्थम वाक्या उपन्यस्यंत उत्पत्ति से रहित अद्वैत आत्म तत्व का श्रुति प्रमाण तत्व को प्रदर्शन करने के लिए जो युक्ति से हमने इस प्रकरण विषित किया है और उसको श्रुति से ही समुद्वलित करने के लिए उपनिषद वाक्यों को अन्य उपनिषद वाक्यों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है रसादयो अन्न रसमय प्राणमय कोशा इव कोशा असी का तलवार का जैसे म्यान होता है कोश उसी के प्रकार इस आत्मा के ऊपर ये कोश के समान कोश है उत्तरोत्तर से अपेक्षा बहिर्भावात पूर्व पूर्व से व्याख्याता उत्तरोत्तर की अपेक्षा से बहिर्भावत्व को लेकर के पूर्व पूर्व पहले उन्हीं का व्याख्यान किया जा रहा है स्थूल शरीर इसलिए पहले ले लेते हैं हम क्योंकि जय सबसे बाहर दिख रहा है अनुभव सिद्ध है अब इसके भीतर वाले को बताना पड़ेगा भाई ये किस पर टिका है क्योंकि ये अनुभव में आता है जब इस शरीर का भी होश नहीं सुशक्ति आदि कारण कहा है प्राण है ये वो कहा है ना पहले कौन देव जगा रहता है प्राण जगा रहता है अर्थात स्थूल शरीर से भी प्रधान कौन है प्राणमय शरीर ज्ञापन हो रहा है इसलिए प्राण चला गया कहते मर गया खत्म इसलिए प्राण इस स्थूल शरीर से भी श्रेष्ठ है उसका प्रमाण एक शरीर आपको माननी पड़ेगी लेन और प्राण है ये कैसे मालूम होगा आपके अपनी मन से आप जान रहे हैं कि सुषुप्त काल में इस शरीर के अंदर प्राण ही एकमात्र था और इस प्राण में ही सभी के सभी इंद्रिया लीन हो गए थे और मैं अकेला मन राजा क्या किया स्वप्न को देखा ये जागृत मन के आपको स्मृति में आ जाता है इसका मतलब उससे भी ज्यादा आपको मन को मानना पड़ेगा मन प्रधान भी कोई शरीर होता है जो अपने स्वप्न में सारे पदार्थों को मान लेता है ये इससे भी सूक्ष्म जब ये शरीर और इस प्राण विशिष्ट शरीर को भी छोड़ करके मन अपने एक नई शरीर बना लेता है वह एक नया प्राण कल्पना करके सारा व्यवहार करते रहता है ये तो प्राणमय शरीर और ये तो स्थूल अन्नमय शरीर से कोई लेन देन नहीं होता फल को लालच स्वतंत्र बना रखा है इसका लाभ इससे निरपेक्ष होकर चल रहा है तो इससे सूक्ष्म जरूर है मानना पड़ेगा वो मनोमय कोश है लेकिन जब मन भी लीन होता है तो सुशक्ति में जो आनंद अनुभव हुआ उस अनुभव को अपने अंदर संस्कार रूप में रख लेने वाला किसको मानना पड़ेगा जिसके बिना वो सुशक्ति के आनंद और सुख का अनुभूति का स्मरण आप जागृत नहीं कर सकते इसलिए वहाँ आपने बुद्धि तत्व को माना यानी किम भी वह पूछा था धी ही जवाब दिया था बुद्धि है वो बुद्धि मैंने विज्ञान विज्ञानमय कोश है लेकिन वह विज्ञानमय कोश में जिसमें रहकर जिस आनंद का अनुभव किया है वह आनंद उसका भी द्वारा साध्य है विषय बुता है लक्ष्य तो होने से वह आनंदमय कोश अंतिम स्वरूप मानना ही पड़ेगा लेकिन वह आनंद में कोश के पूर्ण रूप में अनुभव नहीं कर पाता है इस निश्चित रूप से अनुभव कर अनुभव ज्ञान मानना होगा कि वह कोश है वह सवय वस्तु भी किसी न किसी निरवय रूपा अधिष्ठान विद्यमान है इसी के अलावा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा गया तैत्रिपनिषद उसका भी अधिष्ठान कौन है ब्रह्म रसो वैसा